नवा हृदय पर कपड़ा उतारने पहनने में भी कभी कभी सकते एक बार तीन आदमी एक साथ ला रहे हैं कुर्ता तो तीनों पहने हुए थे कपड़ा तीनों तो शरीर पर था कुर्ता तीनों पहने हुए थे एक आदमी का कुर्ता कुछ बड़ा दुष्ट था से तन छूटता है और कुर्ते से उसका हो भी बढ़ता और एक आदमी का कुर्ता तो कुछ बहुत कटा हुआ था परंतु कुर्ते में उसका कोई बोझ और एक आदमी ऐसा था कि जिसका कुर्ता भी सीधा था और भी नहीं था अब रास्ते में आए तो रास्ते उन्होंने तीनों से कहा कि कुर्ता निकाल लो तो जिसका कुर्ता कुर्ता हो अब वो तुम हो हमारा कुर्ता निकालने की तकलीफ हो शरीर में कुर्ता निकालने की भी तकलीफ हो कुर्ता खींचने की भी तकलीफ हो गलत तकलीफ और जिसको मोह नहीं था उसको निकालने में तो तकलीफ हो लेकिन मन में तो मोह नहीं था तकलीफ नहीं और जिसका जिंदा था और मोह भी नहीं था उसमें तो पता मत ये कपड़े जो है ये पति पत्नी आदि भी कपड़े ही है ये कामा गलत होने से पत्नी को पत्नी बस प्रही बोलते हैं पत्नी ही पति भी कामा गलत होने से ये भी वस्त्र ही है पति पत्नी पुत्र संपत्ति की प्रेरणा मुझे और जीवन मान बुझा नहीं होता उपादान में जो सामर्थ्य आया है साधना सामर्थ्य कर्म सामर्थ्य उपादान सामर्थ्य निर्माता के संकल्प का सामर्थ्य उसका क्षीण होना ही शरीर का दूर होना प्राण का क्षीण होना वासना का क्षीण होना सूरत का अनुभव होने लगता सूरत का सही उत्साह तो मन में उत्साह आ जाए एक व्यक्ति के बारे में मैंने कहा था उसका भाव क्रिया का एकदम वैसा ही पर चलता था और खाद दिखा के सोया हुआ था उसकी गाय की वगैरह कटाई इधर उधर छोटे विचार हो घूम रहे हो उसने देखा क्या है तो देखा एक साफ हम के साथ ही गाय को ऊपर लटक रहा है और गाय अपने प्रकाश को बताने के लिए कभी ही मेरे मन खुद विचार हो और वो मना लेकिन आओ देखा बताओ तुम देखा के भाई और सौ आसपास को मारने के लिए अब साफ सजा साफ सजा तो दो हजार तक सदन को लेगा साफ भाग गया जरूर लेकिन उसकी बेसाखी उसी दिन की छूट गई तो कोई न कोई कोई कहते हैं कि गाय माता की जो उसने रक्षा की उसको धर्म हुआ और उसका प्रारंभ नहीं हो जाएगा एक ऐसा नहीं उसके मन में जो तो बंद परमेश्वर की शक्ति है ना वो उत्साह के देव के साथ उसकी आत्मशक्ति का जागरण हो जाएगा ये सही अच्छे काम करिए ये सब पूरे सही लोग जो है ना वो ऐसे अवसर पर जो देश का उदय होता है उत्साह ही जवाब हो जाता है ना उनका भी जवाब हो जाता है यदि उत्साह आ जाता है यही है कि हम उसका नहीं हो गए ये जीवनता है यहाँ के लोग महात्मा लोगों को तो मालूम नहीं होगा आजकल तो शहर में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं अब भी के क्या करेंगे तो टूट गए बाल चावल कर जाए उसको सफा कर जाए दुर्गंध आने लगे उसको तो है दूसरे नए नए मिलते हैं देवी नित्य मंगलम पिंगंत शस्त्राणी नहीं हम बहुत उपाय कहा न पिंगल पिंगल निकला कुमार कहा अच्छे योजनादार दुर्लभ अत्योग्यो सेवक मुख्य सर्वत अतलोवन समागम ये आत्मा आत्मोत्मिक की आत्मा जो इंद्रियों के द्वारा अंतरों को प्राप्त करता है राज्य संस्था जवाब संस्कार ग्रहण करके स्वस्थ होने जो स्वप्न देखता है उसका नाम आदर्श ही आत्मा आप आपरोधी ही आत्मा तो ये आत्मदेव जो है महाराज ने कहते हैं देशा आत्मोती जड़ा दृष्टि जक्षा विषयान हो जक्षा संपत्ति भावा प्रथमा रात्मोती जीवते नारायण तो नहीं सुनने को करना ये आता है जितने पार्थिव अर्थ तत्व हैं ये इसको साथ नहीं करते सारे लोहा से बने हैं पीतल से बने हैं सफन करते हैं मतलब सबका गला काटते हैं सफन सबको जैसे देखते हैं जब की सुझाव देता है लेकिन जो है ये सत्संग जो है ये गला बहुत प्रकाश का है अगर तलवार है जिस विकार के जो शस्त्र बने हुए हैं उन विकारों से ये रहित है मानव शांति भौतिक पदार्थों में आत्मा को मानव पहुंचाने का सामर्थ्य नहीं है मैं ऐसा वातावरण विशाल सुगंध बना दिया जिसको ये सूखने वाला नहीं मानो किसी दूसरे में उसको मारने का सामर्थ्य नहीं है ये मारने वाले पदार्थों की असमर्थता को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं और दूसरा इसमें मारने की योग्यता नहीं है ये आत्मा में जो अनर्हता है आत्मचेतन आश्चर्यम अदाश्चर्यम इसमें चेतक का निषेध है पहले में चेतक का निषेध है और इसमें आत्मा की चेतिका का निषेध है ये दोनों का भी दोष है अदाश्चर्यम जल नहीं सकता ज्ञान नहीं सकता सुख नहीं सकता नित्य सर्वता मुक्त है मानस काल परिस्थिति नहीं सर्वगत मानस देव परिस्थिति स्थान मानस परिवर्तनशील पदार्थ में और अचला तो, तो जो कहता है वो तो सनातन ये तो सनातन है सनातन माने सदा भवन सनातन अस्तित्व को बढ़ा अनुभव प्राप्त नहीं हो अस्तित्व को अस्तित्व से क्योंकि वही क्रिया है का क्रिया पर ही तो है अस्थि न तो परंतु ये अस्थि क्रियापद का विषय नहीं है जैसे अस्थि भला बोलते हो ना वैसे इसको अच्छी नहीं बोल सकते तो है तो अस्थि के विषय और अस्थि क्रिया दोनों का आश्रय दोनों का आश्रय अधिष्ठान है इसलिए उपलब्धि की प्रक्रिया ये है कि जो विषय ध्यान हो रहा है उसको वो खोकर अस्थि किया जाएगा अस्थि मात्र तब अस्मिता योगक समाधि हो जाएगी और विवेक शादी के द्वारा एक अस्मिता बैठ जाओगे परंतु स्वरूप में बैठने पर भी यदि अपनी अधिकता का ज्ञान नहीं हुआ तो गोलाम स्वीकार नहीं होगा बड़े अपन प्रयास करा दिए हो पूरे प्रसंग हो प्रसंग ना भाग ना हो परंतु अपनी अस्वीकृता का यदि बोध नहीं है तो काम नहीं करना हाँ, आप उसको क्या बोलते हैं अव्यक्तोयम संचोयम अविकार्योयम चले तस्मादेवोयम नाम क्योंकि मरती एक संभाव हो रहा है अब उसका मतलब क्या यहाँ से जो उपक्रम हुआ था उपक्रम हमारे पाँव बनाया गया था आदेश प्रमुख आदमी से जो प्रारंभ किया गया था अयोध्या हमने होकर हुआ आप उसका कुछ संभाल करते हैं नाम सोच को भारत आप अनुशोच मत करो अनुशोच का एक मतलब ये होता है ये तुम तो अपने आदर नहीं रखेंगे और ये दूसरों को रोटी देखते कर नहीं रहे तो असल में दुनिया में ये जो हम लोग होते हैं ये अपनी ओर से नहीं होते दूसरों के होते देश देश को ठीक लिया ऐसे मौके पर होना चाहिए और मौके पर होना चाहिए दिल्ली में तो किराए पर होने वाली और हम चीज को मना हमको अभी बता रहे हैं सेकंड एक नई बहू आई थी तो उसको ले गए लोग माता देखते हैं तो हॉस्पिटल मालूम नहीं था कि क्या होता है तो उसने देखा सब बात पीछे कोई खादी पीछे हाय हाय रहे तो वो भी पीछने हमने खादी पीछने जान पीछने लगे अरे सारी खान अवधि तो खाए हो गए छाती भी और जान भी खाए अपने पीछे घायल हो गए तो साथ में तो ये कैसे कैसे हो छाती पीछने से कम हो गया तो बोली की खाती की जाती है ऐसे कि चोट न लगे और आवाज ऐसे मौके पर हमारे दादी जी होती थी माता जी होती थी बाप दादा सब होते थे तो हम लोग रहने कैसे रहेगा हम मजाक के लिए हम बोलते आपसे हमारे लिए अच्छा है माता उनको जो विश्वास बार रोज कहें कि कोई बात नहीं अब वो गई तुरंत बताती है कि मैं गई तो नहीं हुई जहाँ से आई थी गाय से बता नहीं था कैसे क्या होता है हाँ। तो वो सबको देने लगे तो हमारी आँख में आती ना आए ना आए बड़ी शर्म आई तो मैंने अपनी नानी को मरने का याद किया बाप को मरने का याद किया माँ को मरने का याद किया और उसके मरने का तो याद दे दिया लेकिन जब अभी आने लगी तब मैंने अपना मुंह ढक लिया मैं ढक लिया ये तो दूसरों को रोते ऐसे मौके पर सब लोग रोते हैं तो हम क्यों न रोते इसी का नाम अनुशोक होता है वो अनुशोक रूप में नक्कर शोक नहीं है ये तो अनुशोक है अनुशोक ही तुम अलग हो अव्यक्तोयम या तेना प्रमाण अध्यक्ष यदि अभ्यक्ता ये अभ्यक्त है गीता में अध्यक्ष शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए भी है और प्रकृति के लिए भी है परमात्मा के लिए भी है और जीव के लिए भी है परमेश्वर के लिए जीव के लिए प्रकृति के लिए तीनों के लिए अध्यक्ष शब्द का प्रयोग है तो अव्यक्त प्रकृति में तो प्रमाण वृत्ति लीन हो जाती है इसलिए वो अव्यक्त वहाँ अप्रमेय प्रमाण वृत्ति ही हो जाती है और ईश्वर जो है और आत्मा जो है आत्मा जो है वो प्रमाण के जीवन में बैठा हुआ है तो प्रमाण अपने गर्व को कैसे देखे बात को जन्म को जाने की प्रमाण कैसे अपने आत्मा को देखे और परमेश्वर जो है वो इतना बड़ा है कि वहाँ तक आप नहीं पहुँचती है तो प्रमाण को नहीं देता तो बुद्धि के तो कुछ छोटो विचार अर्थापत्ति करो अन्यथा में तो पत्ती करो अर्थापत्ति करो इसको बुद्धि से सोचो विचारो तो बोले अति चिंतन की वहाँ गति नहीं है कथा को कुछ चलाओ कुछ पकाओ अभी अपने घर में कोई चीज ना हो तो पैदा करने से बना देते हैं उत्पाद और मसाज अपने घर में न हो तो उधार भी ले आते हैं अपने घर में घास की खेती कर लो चावल पैदा हो गए और अपने घर में ना हो तो दूसरे के घर से खरीद से ले आओ उधार ले आओ तो भी अगर हाँ, गंदा हो गया हो तो संस्कार कर लो उसका घोर चर्चा हो तो बता उत्पाद पर ये देवता ऐसे हैं कि न उनको पैदा करना है न किसी से उधार लेना है न इनमें कोई मैल लगी है कि संस्कार करना है और न तो ये कच्चे है कि इनको पता है अधिकार को हम उसके ये तो अधिकार ये है कोई विकार इनमें होते नहीं न प्राकृतिक विकास न बौद्ध विकास और न मानस विकास और न प्राण विकास न शरीर विकास विकार तो उन तक पहुंचता ही नहीं है अधिकार ही मुझसे से पदमा एवं हे भगवान आप ध्यान दो छोड़ने के लिए यहाँ विदित्वा इस असमाप्त क्रिया का प्रयोग किया गया है विदित्वा जो है ना वो असमाप्त क्रिया है असमाप्त क्रिया मान जैसे उपदिश्य फूलते बैठकर खा रहा है यही होता है भविष्य फूलते बैठकर खा रहा है एनम विदित्वा तस्मात एवं एनम विदित्वा वेदन समकालम नाम शोधित किसी कर्तव्यता की प्राप्ति ही नहीं है जानते जानते शोक से रह सकता ये नहीं है कि ज्ञातवा कृतवा प्राप्त नाम शोधित पहले ज्ञान हो फिर सर हो फिर पा हो फिर शोक मत करना ऐसे नहीं है ये दूसरा नाम सोच तो तुम्हें रखे जानना और शोक रहित होना ये दोनों युवक जानने मात्र से ही शोक रहित हो जाना यही परा विद्या और अपरा विद्या का फर्क है धर्म अपरा विद्या है सत्रापरा हृदय हो यदुर्वेद काम हो सर्वा निरत विद्या का अथ परा जया एक अक्षरम अभिगम्य है अपराध क्या वो होती है जो अनुष्ठान साबित होती है पहले चक्र को जानो फिर करो फिर सफल पाओ उपासना को जानो करो और सफल पाओ योगाभ्यास को जानो करो और उसका फल पाओ ये सब अपराध विद्या के अंतर्गत है और परा विद्या तो कौन से होती है नानुष्ठानम बिना वेद वेदन पर चारों वेद पढ़ लो लेकिन अनुष्ठान के बिना सफल नहीं होगा ब्रह्म की सार्वजनिक वस्तुआ फलदेशी परामता परंतु ब्रह्म विद्या केवल ज्ञान मात्र से ही चिंता हो जाती है इसलिए इसका नाम पराग विद्या है ये अपरा नहीं है ये किसी के पहले नहीं है ये कर्मा विद्या है कार्यमा कर्मा विद्या है इसके बाद कुछ इसके बाद कुछ करता भी नहीं दूध का इसके बाद कुछ प्राप्त से नहीं भविष्य का इसके बाद कुछ लक्ष्य नहीं देश नहीं खतरे का और इसके बाद कुछ देश नहीं रहना था जिसको प्राप्त करके ब्राह्मण विधित देवी तक हो जाता है इसको प्राप्त करके देश खतरे लक्षित लक्ष्य हो जाता है हाँ, इसको प्राप्त करके वैश्य प्राप्त प्राप्त करके हो जाता है हाँ, और इसको प्राप्त करके इस विद्या को प्राप्त करके हाँ, हर कर्मी वर्मी भी कृतकृत्य हो जाते हैं उनके लिए कोई ऐसा विशेष नहीं रहता ऐसी विद्या वर्तमान एवं कोई नाम को तुम तो मोह मूलक सोचो और वेदन से मोह दूर हो जाएगा तो शोक को जब प्रसन्न है इस प्रदेशन में जब तो शोक कहाँ से रहेगा तो अच्छा सायकाल अव्यक्तात् विषय सर्वात्म भगवत यहाँ व्यक्त संस्कार से प्रकाश और भूत वत्सर मनिर्देश्यम अध्यक्षम पर्युपात को सर्वत्रगम चिंतम ब्रह्म महाध्यक्ष पिता को परमात्मा और यहाँ अध्यक्ष हो या अचिंत्यम ये प्रत्येगात्मा एक ही शब्द के द्वारा व्यक्ति पदार्थ का निरीक्षण किया जा रहा है तो असल में एक अर्थ वास्तविक होगा और बाकी सब साबित प्रत्येक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व ही अध्यक्ष संविधान का अर्थ है और यदि ये अतिरिक्त कोई अव्यक्त शब्द का अर्थ है तो बाधित होगा अव्यक्त हमारे परिणाम यदि जो परम गति है यही खराब परम परम जो व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं होता परिच्छिन्न नहीं होता परिचय नहीं होता सहज स्वभाव इसका चिंतन का विषय नहीं बुद्धि का विषय स्वभाव तो के परिणामी नहीं है ये अव्यक्त ने कहा और बुद्धि का विषय नहीं है ये अचिंत ने कहा और कोई प्रयत्न से भी इसमें विचार उत्पन्न करना चाहे तो भी नहीं हो सकता अधिकार जो नहीं हो सकता स्वाभाविक परिणाम बुद्धि विषयत्व और प्रयत्न कृत परिणाम वस्तुओं से भराला आएंगे और यही प्रत्यक्ष चैतन्य दूसरा अच्छा आपको केवल स्मरण दिलाता है ब्रह्मा ब्रह्मात्म प्रत्यक्ष चैतन्य जो श्री रामानुजाचार्य तो को भी स्वीकार है परंतु प्रत्यक्ष चैतन्य अभी तो ब्रह्म ये उनको स्वीकार है ब्रह्म से अभिन्न है जीवात्मा ये तो उसको स्वीकार है मान पर आत्मा से अभिन्न है ब्रह्म ये उनको मानना केवल विवेक करने के लिए तो कौन गलत कौन सही है तो आप कर, आप निर्णय करो आप करो हमको केवल विवरण केवल खुलासा कर देते हैं जान लेंगे कुछ तो आप रोइए मत और दूसरे हजार आदमी रो रहे हो तो उनके पीछे कोई होगा कई लोग रोने लगते हैं आदमी उनका रोना देख के रोने लगता है जब इतने लोग रो रहे हैं तो आओ हमको साथ दे रहे मत रहो अकेले भी मत रहो लोगों के साथ मिल के मत रहो होगा तुम्हारा स्वभाव और पूरे हम कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ये बात नहीं बैठती है करो तो चलो दुर्गा आपकी दुर्गा महाशय आपकी संकल्प हो जाइए देखो ये खंडन नहीं करता लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं तो ऐसा ही चाहिए लेकिन परिणाम वही बदलेगा क्या अशोक मत करो अतम मुख्य जातम मुस्लिम व पंचभूत में से ये आत्मा पैदा हो जाता है और घर को पंचभूत में चला जाता है पंचभूत नहीं बोलता है सबसे चारे मानते हैं पांच मानते हैं पंच जहाँ होगा वहाँ तो पंच का फैसला ठीक होगा ना तो उन्होंने पंच नहीं माना चारे अब इसीलिए वो बेचारे तो चार बात बोलो और चारों इनको बहुत क्योंकि संस्थान में विज्ञान की उत्पत्ति और विनाश होती है विज्ञान इनकी आत्मा है और क्षण क्षण में उत्पत्ति और विनाश होता है तो दोनों भाई जैसे पानी का झरना हमेशा बढ़ता रहता है जैसे जीव की लौ हमेशा जल्दी दुखी होती है हाँ। और जैसे फल हमेशा खस्ता बढ़ता रहता है ऐसे नित्य पैदा हो रहा है और नित्य मर रहा है अगर इस सिद्धांत को मान भी लें तो अर्जुन कोई बात नहीं तुम्हारी सही बात है सिर्फ नास्तिक सभी को अपने दो में समझना पड़ता है हमारे तो पूंजीवादी और कम्युनिस्ट दोनों भगत हैं और जो हमको प्रेम करते हैं वो चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे पूंजीपति हो दोनों को चले चले जाते हैं विचार तो तो तो को कोई दबाना थोड़ी देखो संख्याई लोगों का जो संख्या का आर्थ है भी मतलब एक एक पीढ़ा भी देते हैं कि बस इतने नहीं वहां का मत है मत पीढ़ा उन लोगों का हाल है कि हम दूसरे का हमारा पीढ़ा ठीक तुम्हारा पीढ़ा ठीक अरे हमारे तो सब पीढ़े ठीक है और सब तो ब्रह्म से अच्छा होता है तो हो पूजा करने के लिए जो चौकी दिखाता है ना उसका नाम से तो कोई सलाम रखते हैं कोई देवता रखते हैं जो अधिपति तो ईट को ब्रह्म में बहुत से बनाए जा सकते हैं पर अधिष्ठान ब्रह्म में भी ईट होते हैं ये की पीठ है न क्षण पीठ है न जोन पीठ है न सिरप पीठ है जो अच्छा विश्व सथा विश्व आओ बड़ा भारी हाथ है तुम्हारा नैगम छोटी प्रकार छोटी मोटी जात के लिए इतने बड़े होते तुम छोटी छोटी जात के लिए कहा दूसरी ग्राम जिसमें कोई का कोई खोरे ठिकाना नहीं अधिक खान निष्ठा चिंता भावक प्रतियोगी कहा है कोई स्वादिष्ठान निष्ठा चंता भावत प्रतियोगिवान निष्ठा अपने अधिष्ठान में रहने वाले अभाव का अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी है उसको मिथ्या कहते हैं लेकिन तो ये क्या शोध करना खोजूंगा छोटी बात को क्या शोध करना अरे कुछ पैदा हुआ वो मरता है जो मरता है वो जिंदा होता है अब तक जितने मरे जितने जिंदा हुए वापस से गुरु मृत्यु सोहम जन्म तो हम भी तो तो हमारे सलाहकार से वो कहते थे जो हम सिंहासन पर बैठे हैं सबसे जबरदस्त उसमें कोई भारत हो और ये जैसे रोज शौचालय में मजबूर होकर जाना पड़ता है वैसे हम इस पर आते हैं ऐसे सोचे तो हमारे ये तो हमारी व्यवस्था है जो तो हमको आठ घंटे बिना का काटे बिना शौच गए लोगों के बीच से आतंकवाद के बीच पर हाँ, मजबूर होकर देखना पड़ता है ये तो जैसे हमारा आधा घंटा शौचालय में जाता है वैसे आधा घंटे ऊपर जाता है जो उनके मुंह की बात में बोली हाँ, और अपने काम को हाँ। आप लोग कभी लवचना मत हो कोई सीधा उड़ा पर बैठने के लिए ब्रह्म भाव आपका आपका इतना बड़ा आसन है कि आप में सब समा जाता है आपको रख सके ऐसा कोई आसन नहीं है आप में ही सब आते जाते उसको बैठते जैसे करते रहते हैं अपरिहार की अर्थ कहोगे उसमें शोक करने की मरना और जन्मना ये शोक करने की वस्तु नहीं है और सब पूछो तो प्राणना की परिस्थिति ये है कि अध्यक्ष कानून यहाँ का प्रकृति अभी पहली आत्मा के लिए आया है अनंतर ही उदीरित है अव्यक्त हो या मध्यम हो यहाँ अव्यक्त माने प्रकृति हो यदि कार्य कारण संघातात्मक तो मान लिया जाए इन प्राण शरीरों को कि न तो ये क्षमता में उत्पन्न नष्ट होने वाले कार्य हैं और न तो कारणात्मक है ये कार्य कारण के संघात तो ठीक है अभ्यक्त है इनकी आदि और अभ्यक्त है इनका अंत और बीच में हुए व्यक्त ऐसे समझो कि सुसुप्ति है आदि और सुसुप्ति है हम और बीच में आ गया सपना कोई शरीरों की यही हालत है न पहले शरीर था न बाद में शरीर रहेगा ये बीच में स्वप्न उदित हो गया है लक्ष्य भारत में वो अरे स्वप्न खड़ा हुआ तो स्वप्न नहीं जाएगा सत्र कहा कर लेना कहा हमारा सपना टूट गया तो है ना एक मनोराज्य जो आपको अपने जो गया था तो मालिक ने कहा हमारा एक घड़ा तेल नष्ट कर दिया उसने कहा तुम्हारा एक घड़ा तेल नष्ट हुआ है हमारी बड़ी बनाई सारी बेवस्ती का ही लोग हो गया एक आदमी बेटी गई है पत्नी गई मकान गया घोड़ा गया गाय गई हमारे तो सब सुधा घर गृहस्थी गृह तो ये महाराज मालूम पड़ता है और मालूम पड़ना मिल जाता है इसके सिवाय दुनिया और कुछ नहीं है उसी तत्र कहा कर रहे हो ना काय को कल्पना करते हो काय को कलम रहे रो रहे हो हमारे ये छूट गया हमारा ये छूट गया हाँ दूध हाँ, के दांत छूट गए हाँ।, हाँ शादी वादी नहीं थी तो हूँ दिवाली और मंदिर दिखाते हैं क्या समझते हो ऐसी बड़ी धूप बन बड़ी तो फिर इसको आयोजन हो गई हमें धूप में दिखाया चुकाया बड़ी लंबी गाड़ी दिखा के करवाते हैं लोग हमारा तो ये सब हमने वाली लिखी है दादी रहते कि मैं सुंदर <laughs> जवानी रहेगी और बुलापा रहेगा हाँ, ये सब जाने वाला है इसके लिए रोने लाने की कोई जरूरत नहीं है कि जाए उसको जाने को तो आ रहा है और वे का एक मंत्र कल हम और स्वस्थ मन करेगा आओ हम मंगल में मार्ग में वितरण करें स्वस्थ पंथा संख्या मन करेगा सूर्यागंत बताओ जैसे सूर्य जैसे चंद्रमा प्रकाश देते हुए आनंद देते हुए वितरण करते हैं आओ ऐसे वितरण पुनर्जानता बदता अग्नता संगमे मरी लोक संस्थान है तो जानने वाला में रहे हैं जानियों में हम रहे हैं अहिंसकों में रहे हैं वेद का मंत्र पुनर्जानता सदता अजनता संगमे नहीं अब आओ तो देखते कैसे आज का जगत सरस्वती पक्ष देना है यत्र प्रकृति एव नास्ती जहाँ प्रकृति ही नहीं है श्रद्धा दर्शन प्रकृति वहाँ होता है दर्शन जो आश्चर्य और जादू दर्शन से फूल फूल से फलक देख ले फलक फलक में फलक देखने वाला अलग नहीं देखा जाने वाला अलग नहीं देखने वाली कोई इंद्रिय अभी तक पैदा ही नहीं और देखो चमत्कार सर्व नमस्कार नमस्कार को सुरक्षा अलग नहीं श्रेष्ठ अलग नहीं दर्शन अलग नहीं और आश्चर्य दर्शन हो रहा है आश्चर्य लगा आश्चर्यवत जगत जगत यहाँ पानी कभी पहुंची नहीं वर्णन वो करते हैं महाराज जो कभी ऐसी चीज का वर्णन कर रही है किसी गांव में एक सज्जन आए बोले हम रेलगाड़ी की यात्रा करके आए बहुत बढ़िया होती है होती होती है तो बड़े गड्ढे होते हैं उसमें इंजिन होता है दिमाग फैलती है चलती है एक सज्जन देखते हुए तो उन्होंने पूछा सुनते हैं तीन क्लास होता है कहाँ होता है तीन क्लास तो सुनते हैं किराया भी कुछ कम ज्यादा देना पड़ता है कहाँ देना पड़ता है तो जो ज्यादा किराया देते होंगे वो जल्दी पहुंचते होंगे जो कम किराया देते होंगे वो देर से पहुंचते होंगे लाखों तो, तो है जवाब बदलती तो भाई जिस जिस पानी में कभी देखो नहीं जब वो बातें बर्तन से आपके मन का आता इंद्रे मन को लेकर के पानी देवी मिलने चली थी महात्मा परब्रह्म जी से तो महाराज जितने में से ज्ञानी न तत्र बात गति न मनो मनोगति न विधमो न बुझानी ज्ञानी और बड़ा महाराज फोन करके बोलते हमने देखा है हाँ बच्चे ब्रह्म का है बिना आंख देखते हैं बिना पानी से बोलते हैं बिना काम के सुनते हैं परमात्मा की जो स्थिति है वही आप है अपार अपारवाद यवनो वृता प्रत्यक्ष चक्षु सतरों करना बिना आंख से देख पा ब्रह्म बिना काम के सुनता है रहे ब्रह्म ऐसे ही आप भी बिना आपके ब्रह्म को देख रहे हैं और बिना काम के ही ब्रह्म को सुन रहे हैं हमारे काम का निषेध करके आंख का निषेध करके बुद्धि का निषेध करके न गुरु हो भी लाऊंगा केवल नेति नेति से आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है ये सारी श्रुतियाँ किसी पदार्थ का समर्पण करते हैं किसी माने क्या ऐसी माने ये किसी माने नरक किसी माने स्वर किसी माने मर्कलोक किसी माने ब्रह्मा इसी माने विष्णु इसी माने रोग इसी माने कार इसी माने कार कारा माने ये सब कुछ ये है परमात्मा कुछ किसी पदार्थ का समर्पण करने के लिए सारे वेद सारे शास्त्र सारे पुराण इसी पदकार करते हैं और उपनिषद ना पद का समर्पण करता है उपनिषद का केवल नौ पदार्थ में अभिप्राय है और बाकी सब शास्त्रों का इसी पदार्थ में अभिप्राय है बता इसी को तो भेद भेद वेदा शास्त्र पुराणी कार्य कारण ईश्वर भूतम मध्यम भवत्यादि सर्वम मिथ्येति नित्यनु बिंदु श्रुति है व्याप्त व्यापकता क्रिया सुन सुनते भी क्या हुआ श्रुवा यथा कच्चित खतम श्रुआ खतम वेद तथा कच्चित ब्रह्म श्रुआ ब्रह्म न वेद भगवत जैसे कोई खड़े की बात सुन के घरे को जान लेता है स्वर्ग की बात सुन के स्वर्ग को जान लेता है वैसे ब्रह्म की बात सुन के घरे की तरफ स्वर्ग की तरफ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में नहीं जानता है आत्मस्वाद आत्मा है घरे की तरफ श्रुआ जीवन योग न तो डरना ना कुछ सक्षम नाम देव की तत्वता है ना सक्षम नाम देव की तत्वता है नामता रूप का ज्ञान नहीं होता है तत्वता ज्ञान होता है हाँ। जवान की तत्वता नाम तत्व को ज्ञातवा विषते तदनंतरम तत्वता ज्ञान होता है नाम रूप वस्त्रे न ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है तत्वतया प्रत्यक्ष चैतन्या भेदे न ब्रह्म का ज्ञान होता है ये ज्ञान की प्रक्रिया ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया और ज्ञानों से अलग है रोशनी में खड़े का ज्ञान होता है और बिना रोशनी के आंख का ज्ञान होता है और बिना आंख के मन का ज्ञान होता है और बिना मन के मन के दृष्टा का ज्ञान होता है और भ्रष्टा के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वेद भगवान उसको छाप से फेंक देते हैं और भ्रष्टा को अटूटे कम कर देते हैं जैसे हरे का ज्ञान होता है वैसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है सर्वस्व भारत तस्मा भूतारे क्या पकड़ लिया अपने पहली बात पकड़ ली दुकान कहा है ये अभ्यास है गीता में अभ्यास अभ्यास के तात्पर्य का निश्चय होता है उपद्रवों को संहारा पूर्वता निर्णय बारम्बार जो बात दोहराई जाए तो समझना की सत्ता का इसमें बड़ा आग्रह गीता का इसमें आग्रह है कि बाबा नास्तिक चाहे अपने जीवन नित्य जाता नित्यम मानने से मृतम मानो चाहे आत्मा को नित्य है चाहे आत्मा को नित्य अविनाशी मानो आत्मा को ब्रह्म मानो लेकिन एक बात जरूर है जो हम तुम्हें रोज नहीं देखना चाहते चाहे ईश्वर के बनाए के बाप ईश्वर के बनाए बाप के खोज हाँ? हाँ। और बाप के द्वारा जारी हुई पत्नी को पत्नी को छोड़ अपने पैदा किए हुए बेटा को छोड़ अपने बनाए हुए घर को छोड़ है ना बाल चाहे बुद्धि कर लो चाहे खुशी रहो लेकिन रो हमारी मैया कहिए ये कहना है बेटा रो मत नमकीन कहो नमकीन दो मिठाई कहो मिठाई दो अरे एक आपके ऊपर लगाने जैसे खुदा हो तो वो भी लगा दो लेकिन दो बात देगा हमको तुम्हारा रोना मंजूर नहीं है हम तुमको सोकर ग्रस्त नहीं देख सकते देवी नित्यमोरम देवे सर्वस्वार सबके शरीर में ये जो देवी है ये नित्य आवास है इसका वक्त नहीं हो सकता एक तो तो हथियार तो से पैदा होता है तो शादी भी होता है और एक मन से पद हो सकता है उसको भी साथ बुद्धि से पद हो सकता है उसको भी साथ स्वयं से पद हो सकता है अपना खुदकुशी करने को ये आप मुझे वो कहें कि उनकी खुदकुशी भी नहीं हो सकती वो चाहे तो हम अपने को मार रहे तो मारने वाला ही जिंदा रहेगा अब हम माने खुदकुशी करने का भी सामर्थ्य नहीं है और नहीं सकते और सबके जीती माते के शरीर में भी यही आना चाहिए तस्मात सर्वाणी भूतानी नक्सी इससे किसी भी प्राणी के लिए शोध करने की आवश्यकता महाभारत में तो इसका व्यवहार है व्यवहार क्या है कि यदि कोई तकलीफ सबको होने लगे जैसे सबको पानी की तकलीफ हो जाए सबको खाने की तकलीफ हो जाए सबके अंदर बीमारी पैदा हो जाए तो क्या करना चाहिए और न जान कम दुखम ये सब तो युवा